بسم الله الرحمن الرحيم اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغني النذر अल्लाह के नाम से जो बड़ा ही मेहरबान और रहम करने वाला है कयामत की घड़ी करीब आ गई और चांद फट गया मगर इन लोगों का हाल ये है कि चाहे कोई निशानी देख लें मुंह मोड़ जाते हैं और कहते हैं ये तो चलता हुआ जादू है इन्होंने इसको भी झुठला दिया और अपने मन की इच्छाओं का ही अनुपालन किया हर मामले को आखिरकार एक परिणाम पर पहुंच कर रहना है इन लोगों के सामने पिछली कौमों के वे हालात आ चुके हैं जिनमें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 गया जो नियत हो चुका था और नूह को हमने एक तख्तों और कीलों वाली अर्थात नाव पर सवार कर दिया जो हमारी निगरानी में चल रही थी ये था बदला उस व्यक्ति के लिए जिसकी नाकदरी की गई थी उस नाव को हमने एक निशानी बनाकर छोड़ दिया फिर कोई है नसीहत कबूल करने वाला देख लो कैसा था मेरा जाब और कैसी थी मेरी चेतावनियां ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر हमने इस कुरान को नसीहत के लिए सहज साधन बना दिया है फिर क्या है कोई नसीहत कबूल करने वाला आद ने झुठलाया तो देख लो कि कैसा था मेरा अजाब और कैसी थी मेरी चेतावनियां हमने एक निरंतर अशुभ के दिन सख्त तूफानी हवा उन पर भेज दी जो लोगों को उठा उठा कर इस तरह फेंक रही थी जैसे वे जड़ से उखड़े हुए खजूर के तने हों अतः देख लो कैसा था मेरा अजाब और कैसी थी मेरी चेतावनियां ولقد كذبت ثمود بالنذر فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه إنا إذا لفي ضلال وسعر ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر سيعلمون غدا من الكذاب الأشر हमने इस कुरान को नसीहत के लिए सहज साधन बना दिया है फिर क्या है कोई नसीहत कबूल करने वाला समूद ने चेतावनियों को झुठलाया और कहने लगे एक अकेला आदमी जो हम ही में से है क्या अब हम उसके पीछे चलें? उसका अनुपालन हम स्वीकार कर लें तो इसका अर्थ ये होगा कि हम बहक गए हैं और हमारी बुद्धि मारी गई है क्या हमारे बीच बस यही एक व्यक्ति था जिस पर अल्लाह का जिक्र उतारा गया नहीं बल्कि ये परले दर्जे का झूठा और खुद ही गलती पर है हमने अपने पैगंबर से कहा कल ही इन्हें मालूम हुआ जाता है कि कौन परले दर्जे का झूठा और खुद गलती पर है हम ऊंटनी को इनके लिए फितना बनाकर भेज रहे हैं अब तनिक सब्र के साथ देख कि इनका क्या परिणाम होता है इनको जता दे कि पानी इनके और ऊंटनी के बीच बांटा जाएगा और हर एक अपनी बारी के दिन पानी पर आएगा आखिरकार उन लोगों ने अपने आदमी को पुकारा और उसने इस काम का बीड़ा उठाया और ऊंटनी को मार डाला फिर देख लो कि कैसा था मेरा आजाब और कैसी थी मेरी चेतावनिया صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت قوم لوط بالنذر إنا أرسلنا ناصبا إلا آل لوط نجيناهم بسحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر हमने उन पर बस एक ही धमाका छोड़ा और वे बाड़े वाले की रौंदी हुई बाढ़ की तरह भुस होकर रह गए हमने इस कुरान को नसीहत के लिए सहज साधन बना दिया है अब है कोई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 कहना ये है कि हम एक मजबूत जत्था हैं अपना बचाव कर लेंगे يوم यौम युस्हबून फिन्नार अला वजूहिहिम ذوقوا मस्स सक़र इन्ना कुल्ल शैइन खलक़नाहु बिक़दर जल्द ही ये जत्था परास्त हो जाएगा और ये सब पीठ फेर कर भागते दिखाई देंगे बल्कि इनसे निपटने के लिए वास्तविक वादे का समय तो कयामत है और वो बड़ी आफत और ज्यादा कड़वी घड़ी है ये अपराधी लोग वास्तव में भ्रम में पड़े हुए हैं और इनकी बुद्धि मारी गई है जिस दिन ये मुंह के बल आग में घसीटे जाएंगे उस दिन इनसे कहा जाएगा कि अब चखो नरक की लपट का मजा हमने हर चीज एक तकदीर के साथ पैदा की है وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا أَشْيَاعَكُمْ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر إن المتقين في جنات ونهر في مقام और हमारा आदेश बस एक ही आदेश होता है और पलक झपकाते वो क्रियान्वित हो जाता है तुम जैसे बहुतों को हम तबाह कर चुके हैं फिर है कोई नसीहत कबूल करने वाला जो कुछ इन्होंने किया है वो सब चिट्ठों यानी दफ्तरों में अंकित है और हर छोटी बड़ी बात लिखी हुई मौजूद है अवज्ञा से बचने वाले यकीनन बागों और नहरों में होंगे सच्ची प्रतिष्ठा की जगह बड़े प्रभुत्वशाली बादशाह के करीब